पार करके प्रहलाद जी को प्रणाम करके और फिर उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई करी भारतीय मासूम से नाम विकर्ष दलितों की सेना को लेकर के और इंद्रपुरी को घेर लिया और भरतपुरी ने जो संघ दिया था वो संघ को बजा दिया किसकी नाम भयन जनाई तनु जगमऊ तो संत की ध्वनि सुन करके देवताओं की स्त्रियां डर गई और तो देवता लोग जो गुरु के पास गए गृहस्थ जी के महाराज इस समय बगीचे का बड़ा भारी प्रभाव मालूम होता है ये गुरु एक सबसे कारण गुरु इसका क्या कारण बृहस्पति जी बोले तुम्हारे शत्रु की वृद्धि का कारण हम जानते हैं ये प्रभु जी ने शुक्राचार्य जी ने अपना इस समय तेज अपनी तपस्या का बल उसके साथ प्राप्त कर दिया आप तुम जैसे व्यक्ति उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते आप स्वर्ग को छोड़ करके तुम जहां से कहां अपने छिप जाओ आप देवेश गुप्तेश देवताओं युद्ध के लिए सामने नहीं आए जहां कहां बेचारे छिप गए उसके अनंतर जब अदिति जो थी देवताओं की माता जब उनको ये पता चला कि मेरे पुत्रों की ये दशा है उनके स्थान सब छिन गए दुखी हो रहे हैं तो पुत्रों के दुख से और देव माता भी दुखी हुई एक दिन कश्यप जी उनके घर गए आश्रम में गए तो वहां चारों ओर उदासी छाई हुई थी अदिति बड़ी दुखी थी उन्होंने कहा कि क्या बात है तुम कैसे उदास हो यहां कैसे उदासी छाई हुई है जब ये पूछा तो अदिति ने कहा महाराज आपको पता नहीं है आपके देवता और कई दोनों में आपके पुत्र हैं तो इस समय जो मेरे पुत्र हैं जो लोग उनके स्थान छिल रहे हैं वो दुखी होते रहे हैं शिक्षा के रहते हैं मैं अपने पुत्रों से दुख से दुखी हूं कश्यप जी बोले क्या हो बहुत गुणात्मा वचात्मा प्रकृति कर कष्ट के पुत्र क्या मोह एव कारण कश्यप जी कहते हैं हे भगवान तेरी माया बनी कहां पर पंचभूतों का शरीर और कहां प्रकृति से परे आत्मा अरे कौन किसका पुत्र है कौन किसका पति है कौन किसकी स्त्री है इसमें क्या कारण है बोलो मोह ही कारण अज्ञानी कारण है इसमें फिर बोले अच्छा अगर तू अपने पुत्रों का उत्थान चाहती है तो फिर भगवान का ध्यान भजन कर तो तो व्रत कर सब जा सकते कामा अरे जीना में कम कम तो भगवान की इच्छाओं को पूरी करे अमोघा भगवत भक्त लेकर एक मत भगवान की भक्ति अमोघ है अभी जी बोली महाराज को विधि तो बताओ मैं किस विधि से भगवान का पूजन करूंगी तो उसके लिए कश्यप जी बताते हैं कश्यप जी कहते हैं जो जो माता पहले हमने ब्रह्मांडी से पूछा था हम्म, प्रजा कामीन मेरा तो भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत बाढ़ है जिनका हमको ब्रह्मा जी ने बताया है तो तू उस व्रत को कर वो कैसे होता है उसका नाम है तयोव्रत फाल्गुन मास का जो जब शुक्ल पक्ष आ गए तो उसमें भी बारह दिन का प्रयोग किया जाता है अमावास्या के दिन फाल्गुन में जब हमारा चार दिन जो है जंगल में जाकर के वन बराह की खोदी हुई मिट्टी को लावे और उसको शरीर में लगा करके नदी में स्नान करें और उस ये मंत्र से कम दिव्या बराहेना रसाया छता तो धृता तापमान नेत्रा है ये मंत्र बोल के मिट्टी को शरीर से लगा स्नान करके नित्य नियमित करके फिर भगवान का पूजन करे चाहे प्रतिमा में चाहे पृथ्वी में चाहे सूर्य में चाहे जल में चाहे अग्नि में और नहीं तो गुरु में भगवत बुद्धि से गुरु की पूजा और ये आभरणात्म जो मंत्र है नौ उनका उच्चारण करें नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महीसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्ष नवोदत्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय चतुर्विंशतिगुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे नमो ऋषिष्ये कृपते चतुष्टंगाय कंतरे सर्पहस्ताय विद्याय तयी विद्यात्मे नम नम शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वरीय शरीराय नमस्ते योग योग है तयोरे नमस्ते राजदेवाय साक्षिभूताय ते नमो नारायणाय हरे नराय हरे नमो मरत पश्यामोदे दिवस्ये केशवाय नमस्तभ्यम नमस्ते दीपवास कहते इन मंत्रों का उच्चारण करें इनसे पूजा करे भगवान की तो मंत्र ही द्वादशाक्षर विद्या द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान का पूजन करें इन मंत्रों से पूजन करें और चाहे स्वयं खाए ले या किसी भक्त को दे दे तो एक माला जाप जाप मंत्र की जप करे प्रदक्षिणा करे नमस्कार करे निर्माण को शिव धारण करे और खीर से दो ब्राह्मणों का भोजन कराए कम से कम दो ब्राह्मणों एवं प्रतिदिन द्वादशाहम परिवर्तन ऐसे बारह दिन दूध पीकर जो है भगवान की आराधना करें कृतपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तक ब्रह्मचर्य का पालन भूमि में शयन त्रिकाल स्नान ये सब करके فلا أعطاني बिल्कुल ठीक ठीक नियमों का पालन किया उस व्रत का उसने अनुष्ठान किया फिर उससे भगवान प्रसन्न होकर के और संघ चका हरित हरिप्राग होती भगवान प्रवट हुए और से बोले हो देवी हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न <clears throat> अदिति ने भगवान की स्तुति की यज्ञेश यज्ञ पुरुषार्थ तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम देव अर्थी बोली महाराज जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या करते हैं जो आयु परम बहुत बड़ी आयु दे देते हैं मारकंडे जैसी अभीष्ट शरीर दे देते हैं अतुल्य लक्ष्मी दे देते हैं पृथ्वी आदि का राज देते हैं और तो सपत्नों के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी तो साधारण बात भगवान बोले कि तुम अपने पुत्रों को अपने अपने अपने कर्तव्य पर देखो इस समय वो कई लोग जो हैं शुक्राचार्य के द्वारा सुरक्षित हैं तो इस समय उनका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता तुमने हमारी वासना की है तो उसके लिए हम कोई उपाय हैं तो बस स्वाम से पुत्रत्म प्राप्त है पा तो लिया अपने पति ने मेरी भावना करती है उनकी सुश्रुता करें बस ये बात किसी से कहना नहीं इस तरह से फिर वो अपने पति की सुश्रुता सेवा करने लगी कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से भगवान वामन प्रकट हुए बोलिए श्री और श्यामावदा तो दसराज कुंडल मकराकृति के आकृति के कुंडल पहने हुए थे श्यामन का वर्ण था और जो है मुकुट कुंडल आदत पहने हुए दिशाएं सब प्रसन्न हो गई और जो भगवान का जब अवतार हुआ था कौन सा दिन था भाद्रपद शुक्ल द्वादश्या भाद्रपद भाद्रपद के शुक्ल द्वादशी की तिथि थी श्रवण श्रवणस्थे चंद्रे अभिजित नक्षत्रे श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी और अभिजित मुहूर्त था सब नक्षत्र अनुकूल थे शंख दुर्निपियां बज रही थी ऋषय स्तंभकम दृष्टा काश्यकम कश्यपम पुरस्कृत्य बावन भगवान को देख करके कश्यप जी को बुला करके जात का संस्कार कराए जब उनका यज्ञोपवीत होने लगा वामन भगवान का तो गायत्री मंत्र उनको कौन दे अब तो कहते हैं भगवान सूर्य ने आकर के गायत्री मंत्र सूर्यो गायत्री मंत्र बृहस्पति जी भगवान को उन्होंने पूरी किया कश्यप जी ने मेखला दी पृथ्वी ने मृगचर्म दिया माता अगति ने उनको कोपीन पहन देती थी ब्रह्मा जी ने कमंडलू और सप्तर्षियों ने कुशा सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला कुबेर जी ने भिक्षा प्राप्त कर उमा भगवती ने भिक्षा उनको दी उसी समय फिर वो वामन भगवान बटू जो तो अग्नि को प्रज्वलित करके कुषाणों से परिसमोहन और परिस्करण करके संविधाओं से हवन करके और उसके बाद उन्होंने सुना कि बलि महाराज भणोच में यज्ञ कर रहे ध्रुव पक्ष नाम के तो उस यज्ञ में पधारे वामन भगवान यज्ञ में जब गए वो तो लोग कहने लगे ऐसा मालूम होता है कि साक्षात कोई सूर्य ही आ रहा सूर्य में प्रकाशमान अहो चतुर्दिक्षु सूर्य सनत कुमारो आया जब भगवान रामन दूर थे तो कुछ लोग कहने लगे कोई सनत कुमार मालूम होता है कोई कहते हैं सूर्यमंडल से सूर्य जा रहे हैं ऐसे आपस में बातचीत कर रहे थे उसी समय बामन भगवान पहुंचे एक हाथ में दंड और जो है उनके हाथ में कुशा यजमानो गले दर्शनीय मनोरम दृष्टा भगवान ने देखा ये सुंदर ब्रह्मचारी कोई मेरे यहां आया है तो एकदम उठ करके और भगवान के चरणों को धोया उसने तत्वाद शौचम जनकल हम सधर्म विष्णु सुमंगलम तो भगवान के चरणों को धोकर के वो जल उसने बली ने अपने सिर पर छिड़का बोले स्वागतम के नमस्कृतम ब्राह्मण देवता मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं मैं आपको नमस्कार करता हूं बोलिए हम आपकी कुशाज्ञा का पालन करें ब्रह्मषि नाम तपस्साक्षा आपको देख करके मालूम होता है कि ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही मानव मूर्तमान होकर के आई अर्जुना पितरस्तृप्ता आज हमारे पितर तृप्त हो गए अब्दिना पावतम कुलम आज हमारा ये कुल पवित्र हो गया अब सुष्टा पृथ्वयम ये जो यज्ञ हो रहा है ये मेरा यज्ञ सफल हो गया क्यों यद भगवान आगत हो ग्रहण आप जैसे तपस्वी ब्रह्मचारी मेरे यहां आए ये मेरी पृथ्वी यहां प्रदत्त हो गई आपके चरणों से यद यद बटो वांछत तत् प्रतीक्षण अब आपकी जो इच्छा हो वो हमसे मांग मांगो स्वामर्थनम गुप्त सुपान करते बलि कहता है कि मैं आपको देख करके मालूम होता है तुम कुछ मांगने आए हो स्वामर्चनम वित्र सुतान करते अन्न लोगी मैं अनुमान करता हूं कि तुम कुछ मांगना चाहते लो भगवान अपने को छिपा करके ब्रह्मचारी के देश में आए हैं और बलि कहता है कि मैं मैंने आपको तो पहचान लिया आप तुम कुछ मांगना चाहते हैं तो मांगने वाले जो व्यक्ति हैं जो पहचान जानते हैं वो पहचान लेते हैं कि ये कुछ मांग लिया है याचना के भाव उसकी आकृति पर होते हैं जो तुमसे कुछ मांगने आया है उसकी आकृति दूसरे ढंग की होगी कि जो निष्प्रह भाव से आया है उसका आकृति दूसरी मिलती होगी तो बलि ने भगवान की आकृति देख करके पहचान लिया तो ये कुछ मांगना चाहते स्वामर्थतम अर्थतम वृत्त सुताम करते आगे कहता है महाराज तुम्हें गऊ चाहिए तो बढ़िया से बढ़िया गौशाला में चले जाइए गऊ ले लो स्वर्ण चाहिए स्वर्ण ले अच्छा कोई बढ़िया मकान चाहिए तो बढ़िया से बढ़िया मकान ले लो खाने की चीज पहनने की वस्तु तो आप चाहो तो, अगर आप विवाह करना चाहें तो या हम आपकी सुंदर कोई ब्राह्मण की कन्या आपको दो गोतवा वित्त कन्या गांव के गांव तुमको दे दें हाथी ले लो घोड़े ले लो ये भगवान बोले भाई तुम्हारी बात बहुत धर्म से युक्त मधुर वाणी सुनकर के भगवान बोले बतस्तवैतत् जनदेव सुनृतम् सुरोचितम धर्मयुतम यशस्तरम राजन तुम्हारे जो वचन हैं वो कितने मधुर हैं कितने मीठे हैं आपके कुल के उचित हैं धर्म से युक्त हैं आपके यश को बढ़ाने वाले हैं <coughs> क्यों हो विषय में शुक्राचार्य को प्रणाम मानते हैं और तुम्हारे पूर्वज प्रहलाद जो है तो भगवान के परम भक्त हुए पिता वृद्ध प्रसाद नहीं एक अध्ययन को लेकर कश्चित निस्सत्व प्रकरण कुमार बावन भगवान कहते हैं तुम्हारे कुल में कोई कंजूस नहीं हुआ कृपण नहीं हुआ और एक कोई बल नहीं लिया कोई सब बलवान हुए हैं तुम्हारे और ऐसा तो तुम्हारे कुल में कोई हुआ ही नहीं जो प्रतिज्ञा करके फिर पीछे हट जा ना योगा दाता तुम्हारे कुल में चंद्रमा के समान उनकी शोभा हो गई है तब बल्ला युष्मत कुले यद यशानवेन प्रहलाद उद्घातक यज्ञोपा थे असारणों के बीच में जैसे चंद्रमा की शोभा होती है ऐसे प्रहलाद का यश फैला हुआ भगवान ने कहा हो बलि तुमने अपने बाबा की कथा सुनी है कभी कौन बाबा बाबा नहीं और पर बाबा तो हिरण्याक्ष हिरण्य कशपू हिरण्याक्ष जो है वो भगवान से युद्ध हुआ उसका तो उन्होंने यद्यपि हिरण्याक्ष को मार कर तो दिया उसको जीत तो लिया पर उसकी पराक्रमता अब तक स्मरण करते हैं विष्णु भाई किसी तरह से वो मारा गया हमारे हाथ से पर वो तक तो होती भगवान बोला अब तक मन में ये बात सोचते हैं स्मरण स्वम जैन में मेले जब उसके बल का स्मरण आता तो अपने को अपने को विजयी नहीं मानते तो हम उसे जीत नहीं सकते थे तो उसे बराबर मानते शौक तुमको हिरण्या हिरण्य कश्यू जो भाई हिरण्याक्ष का भाई था वो हाथ में त्रिशूल लेकर के जब गया तो फिर वहां वहां से भगवान गौतम से अंतर्धान हो गए और जो छिप गए आकर के उसके तो ये तो हम तत्का से मृत्यु प्राण होता मिले जब हाथ में त्रिशूल लेकर के गौतम सिंह पहुंचा भगवान बोले तो हम जहां जाएंगे ये हाथ में प्रसंगे का अर्थ ही कराएंगे क्या करना चाहिए बोले उसके हृदय में सूक्ष्म रूप बना के घुस जाए अतो हम हृदय प्रेक्षण पराग दशा ये तो बाहर देखता है अंदर तो देखेगा नहीं तो भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से इसके भीतर बैठ गए एवं सुनिश्चित तेरे को शरीरम आधावत निर्भर सुरेंद्र अब भगवान तो अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में बैठे ही हैं भगवान ने सोचा ये तो हमें शत्रु समझ के बाहर देखेगा सब तो देखेगा नहीं एक बार एक किसी ने एक कथा सुनाई तो एक सेठ जी रत्नों का व्यापार करते थे तो बंबई यादव से बहुत से रत्न खरीद करके ला गए तो एक ठग उनके पीछे पड़ गया कि रत्न खरीद के जाए तो शेख जी के साथ ही गए शेख जी धर्मशाला में ठहरे हम ठहरे उनका बड़ा महत्वशी मित्र बन गया तो शेख जी समझ गए कि ये ठग है हाँ, तो वो अपने हर समय चौकन में रहते अपना हिसाब किताब करते रहें रात को देर से सोए और वो पहले सो जाए तो सेठ जी अपने रत्नों की जो बुद्धि थी उसके तकिया के नीचे रखे रख दिया और फिर अपने कांड करता सो गए और जब उठे तो सब कुछ देख ले सेठ जी को पूरे लगते सब सब और उसको कहीं कुछ मिला नहीं तो रात भर परेशान होकर भीतर सो जाए जब वो सो जाए सोजी चुपते निकाल करके फिर फिर अपना दिन में लेन देन व्यापार करें तो रात को फिर वही करें उसी के पास रखें तो वो जो महीनों तक उनके साथ रहा पर सेठ जी उसके हाथ नहीं आए और फिर जो है वो एक दिन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया सेठ जी हजारों रुपया मेरे खर्च हो गए <laughs> तुम बताओ मैं तो खोज खोज करके आ गया तुम रखते कहां हो मुझे तब सेठ जी हट के हंसते बोले अरे भाई हम लोग भी तुम जैसे से काला करता रहता हम तो सब तुम्हारे तकिया भी नीचे रखते थे अब माँ का ठोकने लगा रहे रहा तो भगवान ने सोचा कि बाहर देखेगा कर्म देखेगा नहीं तो उसके भीतर ही प्रवेश तो इसलिए भगवान ने कहा अच्छा और हम ज्यादा तुमसे कुछ नहीं मांगते थोड़ी सी पृथ्वी हम चाहते हैं पदान इतनी भी देखते हैं तीन पग पृथ्वी हम तुमसे चाहते हैं और सन्नता ने पदा मांगा हम अपने पैरों से मांगते हैं यदि तुम और सब कुछ दे सकते हो क्यों नहीं ना प्राप्त हो तो वही विद्वान या वर्ष कर जितनी आवश्यकता हो उतनी वस्तु मान लेना वो तो उससे वो परिग्रह नहीं मान जाता उससे पाप नहीं लड़ता आवश्यकता से अधिक जो वस्तु लेता है प्रतिग्रह करता है उससे पाप लड़ता है बड़ी बोला और ब्राह्मण का यादा वृद्धि सम्मत तो ब्राह्मण बालक तुम बातें तो करते हो गरीबीड़ियों की सी तब तुम हाँ, तुम्हारे कुल में ऐसे हुए तुम्हारे कुल में ऐसे हुए तो तुम स्वयं अभी बच्चे हो तुम्हारी बुद्धि भी बचपन की है तुम अपने स्वार्थ को भी नहीं समझते जो मैं द्वीप के द्वीप दे सकता हूं उससे तुम तीन पग पृथ्वी मनाते हो बलि कहता है एक बार कोई मेरे यहां मांगने आ जाए फिर उसको दूसरे के यहां मांगने की आवश्यकता नहीं तो इसलिए महाराज जीवन भर के लिए कोई आपकी जीवन के वृत्ति करी हुई जिससे तुम्हारी जीविका चलती है उतनी तो तुम्हें वस्तु तो मांग लो भगवान बोले राजन संसार में जितनी चीज वस्तु है तो एक व्यक्ति को भी दे दो तो भी उसकी पूरी नहीं कर सकती हमने सुना है सत्तर दीपाधिपति मृता बैंक गया गया तू आगे तो और बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं अर्थ और काम का अंत उन्होंने नहीं पता कृष्णाया ये निश्चितम अर्थ काम इस कृष्णांतम में बता अर्थ से भोगों से और से किसी की तृष्णा पूरी नहीं हुई आज इसलिए हमको तो जितनी आवश्यकता है उतनी वस्तु लेनी भगवान ने एक बात और कही पुरुषोयम संत के हेतु रसंतोषो कामयो यदृक्षोपन्न संतोषो मुक्त स्मृत भगवान ब्राह्मण कहते हो राजन देखो मनुष्य के बंधन का हेतु क्या है कि अर्थ और काम में संतोष नहीं धन से किसी को संतोष नहीं होता संसार के पदार्थों से किसे संतोष नहीं होता बोलो यही उसके बंधन का हेतु और धर्म और मोक्ष से संतोष करके बैठे मोक्ष के लिए किसी को तर्पण है क्या तो भगवान स्वप्न में भी नहीं याद आती मोक्ष की क्या चीज है